कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 16 भाग 2 अमरत्व की उपलब्धि मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे कोई अड़चन नहीं तुम नास्तिक रहो लेकिन तुम नास्तिकता से पा क्या रहे हो वही मैं जानना चाहता हूं अगर तुम्हें कोई महाशांति कोई महान आनंद कोई अपूर्व घटना घट गट रही है तो तुम्हारी नास्तिकता बढ़े ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूं तुम ठीक रास्ते पे हो तुम बिल्कुल बढ़े चले जाओ पर वो कहते कि नहीं कोई आनंद भी नहीं बढ़ रहा कोई शांति भी नहीं बढ़ रही जीवन दुख से भरा है लेकिन ईश्वर नहीं उनको मैं कहता हूं तुम फिर से सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर को अस्वीकार करने के कारण ही जीवन दुख से भरा है क्योंकि जिन्होंने उसे स्वीकार किया है उनका जीवन आनंद से भर गया है तो अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें तर्क की निष्पत्तियां ज्यादा प्रिय हैं या जीवन का आनंद ज्यादा प्रिय है तुम्हें जीवन में एक अहोभाव चाहिए या सिर्फ एक गणित का हिसाब चाहिए अगर तुम गणित के हिसाब से तृप्त हो तो ठीक है ईश्वर नहीं और अगर तुम जीवन के हिसाब से अतृप्त हो तो तुम्हें ईश्वर को खोजना ही पड़े तुम्हें अपने को किसी भांति बदलना ही पड़े कि तुम उसके अस्तित्व को एहसास कर सको क्या रास्ता है फिर जो लोग सहज उसके अनुभव को उपलब्ध नहीं होते उनके लिए क्या मार्ग उनके लिए पहली तो यह बात समझ लेनी जैसी है कि ध्यान बुद्धि और तर्क पर न दें ध्यान जीवन पर दें इस बात की फिक्र करें कि मेरे जीवन की उपलब्धि क्या है एक आदमी प्यासा नदी के किनारे खड़ा हो और हम उसे कहें कि तू पानी पी ले नदी बह रही है तेरी प्यास मिट जाएगी वो कहे कि कैसे पा, प्यास पानी से मिट सकती है इसका तर्क चाहिए क्यों प्यास पानी से मिटेगी इसका क्या प्रमाण है पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से न तो हाइड्रोजन पीने से प्यास मिटती है न ऑक्सीजन पीने से प्यास मिटती है तो जब दोनों में ही प्यास मिटाने का कोई गुण नहीं तो दोनों के जोर से प्यास कैसे मिट सकती है वो तर्क में आपको हरा देगा वो कहेगा पानी का विश्लेषण करो इसमें प्यास मिटाने वाली कौन सी चीज है ना तो हाइड्रोजन से प्यास मिटती ना ऑक्सीजन से प्यास मिटती दोनों से मिलकर पानी बना है और जब दोनों से नहीं मिटती तो दोनों के जोर से कैसे मिट सकती है प्यास को मिटाने वाला गुण कहां से आ सकता है तुम गलती में हो तुम कुछ भ्रांति में पड़ गए हो लेकिन वो आदमी नदी के किनारे खड़ा हुआ प्यासा मरेगा तर्क तो वो ठीक दे रहा है और अगर लोगों ने तर्क करके ही पानी पिया होता तो सारे लोग कभी के मर गए होते लेकिन लोग तर्क करते नहीं पानी पीते हैं प्यास बुझा लेते क्योंकि लोग कहते हैं तर्क से हमें प्रयोजन नहीं प्रयोजन प्यास के बुझने से है प्यास कैसे बुझती है यह भी व्यर्थ है प्यास को बुझाने वाला पानी में कौन सा तत्व है यह भी सार्थक नहीं है हम इतना ही जानते हैं कि पानी पीते हैं और प्यास बुझती है आप अपने जीवन की फिक्र करें कि आपका जीवन दुख संताप गहन पीड़ा से भरा है वो जो परमात्मा के जीवन में जीने वाला व्यक्ति है वो दुख पीड़ा और संताप से मुक्त हो गया उसके जीवन में एक नृत्य एक संगीत एक सुगंध है वही सुगंध वही संगीत अगर आपके लिए आकर्षण बन जाए खिंचाव बन जाए तो आपके जीवन से नास्तिकता गिरेगी और उसके होने के भाव का उदय होगा नास्तिक को मैं मानता हूं कि वो आत्मघाती है आत्मघाती इसलिए कि वो उस सब से अपने को वंचित कर रहा है जिसके बिना जीवन का फूल पूरा खिल ही नहीं सकता और मनुष्य जाति का इतिहास इसका प्रमाण है बड़े से बड़ा नास्तिक भी छोटे से छोटे आस्तिक के मुकाबले भी जीवन का फूल नहीं खिला पाया है बड़े से बड़ा नास्तिक छोटे से छोटे आस्तिक से भी जीवन में हार जाते बर्टन रसल जैसा बड़े से बड़ा विचारशील नास्तिक भी रामकृष्ण परमहंस के मुकाबले क्या है तर्क में रामकृष्ण परमहंस रसल से जीत नहीं सकते बुरी तरह हारेंगे रसल के सामने चारों खाने चित्त रामकृष्ण पड़ेंगे कोई तर्क रसल को राजी नहीं कर सकता और रामकृष्ण जो भी कहेंगे रसल सभी कुछ खंडित कर सकता है लेकिन यह बात ही मूल्यवान नहीं रसल और रामकृष्ण सामने आमने खड़े होंगे तो रसल का जीवन फीका है उसमें कोई रस स्निग्ध धार नहीं एक गहन उदासी है रामकृष्ण के जीवन में एक आभा है एक पुलक है एक ऊर्जा है जो किसी महास्रोत से आती हुई मालूम पड़ती हम अगर बुद्धि का ही विचार कर रहे हैं तो नास्तिकता सार्थक मालूम पड़ेगी अगर हम जीवन का चिंतन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हम प्रभु है परमात्मा है ऐसे आभास को उपलब्ध हो जाएंगे जीवन पर ध्यान रखें एक युवती ने सन्यास लेना चाहा अभी दो दिन पहले वो बड़ी डमाडोल कि सन्यास लू या ना लू सभी का मन डमाडोल होता है कोई भी नया कदम उठाते वक्त चिंता पकड़ती मैंने उस युवती को कहा कि तू एक बात समझ बिना सन्यास के तो तू 25 साल रह चुकी है नहीं लेती है सन्यास तो जैसी तू थू जो जैसी तू थी वैसी ही तू होगी 25 साल का अनुभव है तुझे गैर सन्यास का सन्यास का तुझे कोई अनुभव नहीं है सन्यास का द्वार नया है वहां कुछ हो सकता है कोई संभावना ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि कुछ ना होगा तो कुछ अभी भी नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा इतनी होगा कि कुछ ना होगा बुरा से बुरा जो हम सोच सकते हैं वो इतनी होगा कि कुछ ना होगा तो कुछ हुआ नहीं है पच्चीस सालों में कुछ खोने का डर नहीं है लेकिन कुछ संभावना खुलती कुछ होने की आशा बंधती कुछ नया कदम लिया जा रहा है पुराने रास्ते को बदलने में जिस पर कुछ भी ना हुआ हो क्षण भर भी संकोच करना निपट अज्ञान है कुछ हुआ हो तब तो नए को चुनने का कोई सवाल नहीं है तो उस पर बढ़ते जाना चाहिए कुछ न हुआ हो तो नए को चुनने की हिम्मत रखनी चाहिए लेकिन पुराना इतना जकड़ लेता और हम इतने कमजोर हैं इतने नपुंसक हैं कि बंधी बंधाई लीक पे चलते जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इस पर कुछ भी नहीं हुआ 25 साल से 25 जन्मों से इस पर चल रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ आप बुद्धि के सहारे कितने जन्मों से चल रहे ये जिंदगी भी आपने तर्क और बुद्धि के सहारे गंवाई है थोड़ा सा रास्ते से उतर के उस घने जंगल में भी उतरना चाहिए जो बुद्धि का नहीं है बुद्धि के रास्ते ठीक पटे पटाए ठीक साफ सुथरे सीमेंट ने उनको पत्थर की तरह बना दिया है उन पर मील के पत्थर लगे आप कहां हैं पक्का पता चलता है कहां जा रहे हैं पक्का पता चलता है कहां से आ रहे हैं पक्का पता चलता है लेकिन रास्तों के किनारे घने जंगल भी हैं जीवन के जहां छिपे झरने और जहां सुगंधित फूल है और जहां पक्षियों के गीत है वो रास्ते साफ नहीं है वहां भय भी है वहां खतरा भी है रास्ते की सुरक्षा भी नहीं है रास्ते की भीड़ भी नहीं है जो सदा साथ थी वहां अकेलापन है लेकिन वहां जीवन की गहनता के खुलने की उप संभावना भी है वहां भटकने का डर है लेकिन वहां पहुंचने का उपाय भी है क्योंकि इस बंधे हुए रास्ते से कोई कहीं नहीं पहुंचता रास्ता तो साफ सुथरा है चलना भी सुविधापूर्ण है भीड़ सदा साथ में होती भय भी नहीं लगता अकेलापन भी कभी नहीं आता लेकिन यह रास्ता कहीं ले जाता नहीं ये रास्ता कहीं पहुंचाता नहीं बस ये रास्ता साफ सुथरा है गोल गोल घूम के वापस अपनी जगह आ जाता ये वर्तुलाकार इससे कोई निष्पत्ति जीवन में फलित नहीं होती जिस व्यक्ति को ऐसा जीवन का बोध आने लगे वो बहुत शीघ्र उस जगह पहुंच जाएगा जहां वो बिना तर्क बिना प्रमाण और बिना कारण के कहेगा परमात्मा है वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है अतः उस परमात्मा को पहले तो है इस प्रकार का निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए तदंतर तत्व भाव से उसे प्राप्त करना चाहिए पहले तो यह प्रतीति हार्दिक हो जाए कि वो है और उसके होने की सुगंध हमारे जीवन को बदलने लगे वो हमें खींचने लगे वो हमारा प्रेम बन जाए फिर फिर कुछ हो सकता है फिर रूपांतरण हो सकता है फिर हम अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा सकते हैं फिर वो हल्की सी झलक फिर हम जुआ खेल सकते हैं फिर हम चुनौती स्वीकार कर सकते हैं फिर हम पूरे जीवन को उसमें ढालने उसके साथ एक रूप करने उसमें पिघला देने के लिए राजी हो सकते हैं पर वो पहला है का भाव उसके अस्तित्व की पहली झलक केवल उन्हें ही मिल सकती है जो बुद्धि को नहीं जो जीवन को उसकी पूर्णता में सोचने के लिए तैयार हो जीवन को उसकी समग्रता में विचारने के लिए तैयार हो और जो जीवन को देखे दुख या आनंद दुख या आनंद को आप कसौटी समझ लें निकस इस पर कसते रहें अगर आपके जीवन में दुख है तो जो भी आप सोचते हैं वो गलत है वो तर्क के लिहाज से सही है या गलत ये सवाल नहीं है अगर जीवन में दुख है तो आप जो भी सोचते हैं आपके सोचने का ढांचा गलत है आपका आयाम गलत है और अगर आपके जीवन में आनंद है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी सोचते हैं वो सही बिना पूछे कि आप क्या सोचते हैं क्योंकि ठीक सोचने का फल आनंद है गलत सोचने का फल दुख है सात्र जैसे पश्चिम के विचारक जो कहते हैं दुख ही जीवन है बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन दुख है लेकिन बुद्ध ने इसलिए कहा है कि जीवन दुख है तुम्हारा जीवन जैसा जीवन जिया जाता है वैसा जीवन और कहा है कि जीवन दुख है ताकि तुम जाग सको और वहां पहुंच सको जहां जीवन दुख नहीं रह जाता है लेकिन सात्र का वचन बिल्कुल बुद्ध जैसा है कि जीवन दुख है लेकिन प्रयोजन बिल्कुल भिन्न है सात्र कहता है जीवन दुख ही है अतिक्रमण का कोई उपाय ही नहीं इसके पार जाने का कोई उपाय ही नहीं यही जीवन की समग्रता है पूर्णता है इसके पार कुछ भी नहीं दुख ही अस्तित्व है लेकिन सात्र क्यों दुख अस्तित्व है इस बात पर इतने जोर से जकड़ जाता है खुद का जीवन ही आखिरी प्रमाण होता है हम दूसरे के जीवन में तो प्रवेश भी नहीं कर सकते अपने ही जीवन में प्रवेश करते हैं अगर मेरा जीवन दुख है तो मैं इसी को फैला के सारे जीवन का सत्य बना देता हूं कि जीवन दुख है सब सत्य व्यक्तिगत होते हैं फिर हम फैला के उनको सार्वभौम बना देते मेरा जीवन दुख है तो सारे जगत को मैं दुख मान लेता हूं दुखी आदमी को सब तरफ दुख दिखाई देता है आकाश में चांद भी निकले तो उदास मालूम पड़ता सब तरफ उपद्रव सब तरफ चिंता पीड़ा पकड़ती भीतर दुख है लेकिन सात्र ये कभी भी नहीं सोचता कि ये मेरे होने का गलत ढंग भी हो सकता है कि जीवन दुख है क्योंकि हमने कृष्ण का जीवन भी देखा है जो दुख नहीं है हमने बुद्ध का जीवन भी देखा है जो दुख नहीं हमने लाओसे का भी जीवन देखा है जो दूर की भी भनक जिसमें दुख की नहीं जो कि परम आनंद है हमारे ही बीच ऐसे लोग रहे हैं जो परम आनंद में लेकिन सात्र कहेगा कि वो भ्रांति में ये बड़े मजे की बात है कि सात्र ये मानने को राजी नहीं कि मेरा दुख मेरी भ्रांति हो सकती है लेकिन कृष्ण का आनंद भ्रांति है मैं आपसे कहता हूं कि दुख सत्य भी हो तो भी भ्रांत आनंद से बदल लेने जैसा है सत्य दुख को भी रख के क्या करिएगा आनंद भ्रांत भी हो तो भी चुनने जैसा है और जो भी एक बार सुन चुन लेता है उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि भ्रांत दुख था आनंद भ्रांत नहीं है लेकिन अनुभव से ही पता चलता है अनुभव के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं पहली प्रतीति परमात्मा है फिर दूसरा चरण तत्व रूप से उसकी उपलब्धि इन दोनों प्रकारों में से वह है इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप अपने आप शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है पहली घटना घट जाए तो दूसरी घटना धीरे धीरे अपने आप घट जाती मगर बीज ही ना हो तो वृक्ष कहां से आए बिना बीज बोए लोग बैठे रास्ता देख रहे हैं कि अंकुरित हो वृक्ष बने फूल आए फल लगे वो नहीं लगते तो वो चिल्ला के कहते हैं कि कोई वृक्ष है ही नहीं लेकिन बीज उन्होंने कभी बोया नहीं बीज बिना बोए प्रतीक्षा चल रही है नास्तिक वैसा ही व्यक्ति है जो बिना बीज बोए जीवन के अस्तित्व का दर्शन करना चाहता है आस्तिक इस अर्थ में ज्यादा वैज्ञानिक है वो पहले बीज बोता है फिर प्रतीक्षा करता है सांस संभाल भी करता है प्रतीक्षा उसकी एक दिन फलवती होती है समय लगेगा बीज टूटेगा अंकुरित होगा बड़ा होगा लेकिन बीज जिसने बोया है वो रास्ता देख सकता है कितनी ही देर लगे अगर बीज सच में ही बोया गया है तो वृक्ष के होने की संभावना और आशा बांधी जा सकती है बीज है ईश्वर है ऐसा भाव ये भाव आप बो दें इसकी सांस संभाल करें क्योंकि इस पर बहुत उपद्रव है चारों तरफ से बीज के ऊपर कोई पत्थर रख जाएगा तो उगना मुश्किल हो जाएगा बीज पर कोई पानी नहीं डालने देगा तो उगना मुश्किल हो जाएगा बीज उग भी जाए तो चारों तरफ जानवर मौजूद हैं जो चर जा सकते तो बागुड़ लगानी पड़ेगी और जैसे बीज की साल संभाल करनी पड़ती है वैसी ही सास संभाल इस भाव की करनी पड़ती चारों तरफ बहुत उपद्रव है कोई भी मिल जाएगा जो कहेगा क्या कर रहे हो कोई ईश्वर वगैरह नहीं पता तो आपको भी नहीं भाव अभी बहुत नन्हा है बहुत छोटा है उसे कोई भी तोड़ सकता है जरी जोर से कोई बोल दे तो आपको लगता है कि इतने जोर से बोल रहा है जरूर सही बोल रहा हो मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था उसके संस्थापक थे एक बहुत बड़े वकील विश्वविख्यात वकील डॉक्टर हरि सिंह गौर वो अपने विद्यार्थियों को कहा करते थे कि सदा कानून की किताबें लेके अदालत में पहुंचो उनको देख के ही मजिस्ट्रेट थोड़ा भयभीत हो जाता है दूसरा वकील भी थोड़ा डरता है तुम्हारी हिम्मत भी शास्त्र साथ में इससे बढ़ जाती और अगर तुम्हारा मुविक्कल कानून के अनुसार हो तो जितना ज्यादा कानून की बातें तुम निकाल के किताबों में से प्रकट कर सको उतनी करने की कोशिश करो बजाय मुबक्कल को सही साबित करने के उसमें ज्यादा चिंता लगाने के तुम शास्त्र के उद्धरण ज्यादा दो उनके विद्यार्थी कभी उनसे पूछते और कभी ऐसा हो कि हम जिस आदमी के पक्ष में हैं वो गलत ही है तो वो कहते तब तुम इतने जोर से बोलो और इतने जोर से टेबल पीटो जितनी तुम्हारी ताकत हो क्योंकि तुम्हारा जोश खरोश और तुम्हारा टेबल का पीटना बताता है कि तुम जरूर सही हो गलत आदमी डर के बोलता है भयभीत होता है पहले से उसकी बाणी कब थी आप ध्यान रखना जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टेबल पीट के बोलते हैं वो इतने जोर से बोलते हैं कि आप सदमे में आ जाते हैं आपको लगता है कि बात सही ही होगी तभी इतने जोर से बोल रहा है और आपका अंकुर बहुत छोटा है शायद अभी आपने बीज रखा ही था जमीन में कि कोई आदमी कह देता कोई परमात्मा नहीं तो आप उखाड़ के बीज देखते हैं कि है भी बीज कि मैं किसी भ्रांति में पड़ा हूं लेकिन जो बीज को उखाड़ उखाड़ के बार बार देखता है वो उसके अंकुरण होने की क्षमता को गमा देता है फिर वो बीज जड़ हो जाए चारों तरफ लोग हैं आप वे क्या कहते हैं ये मत देखना आप ये देखना कि वे क्या हैं फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा आप ये सुनना ही मत कि वे क्या कहते हैं आप सिर्फ इतना देखना कि वे क्या हैं उनके जीवन पर ध्यान रखना उनके शब्दों पर नहीं फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा आपका बीज सुरक्षित रहेगा निश्चित ही जिन्होंने बीज बोया नहीं है उन्हें कोई डर नहीं है वो निर्भीक घूमते हैं कि उन्हें कोई कारण ही नहीं कुछ बचाना नहीं कुछ सुरक्षा नहीं कर लेकिन जिसने बीज बोया है उसे थोड़ा सा भयभीत भी होना पड़ेगा उसे थोड़ा बंद के उस बीच के आसपास बैठना भी पड़ेगा वो थोड़ी सी परतंत्रता भी अनुभव करेगा शुरू में क्योंकि उसने बीज बोया है उसे उसकी प्रतीक्षा भी करनी है सांस संभाल भी करनी है आपके आसपास जो निर्भीकता से कुछ भी कहते हुए घूमते हैं उनसे सावधान रहना क्योंकि उन्होंने कुछ बोया नहीं वे घूम सकते उनके पास बचाने को कुछ भी नहीं उनके पास खोने को भी कुछ भी नहीं आपके पास अगर खोने को कुछ है तो बचाने को कुछ है आस्तिक को निरंतर सावधान रहना चाहिए कि उसकी भूमि में अंकुरित होती जो अभी कोमल सी जीवन धारा है वो नष्ट ना हो जाए क्षुद्र बातें भी व्यर्थ के पत्थर भी उसे नष्ट कर दे सकते हैं और ऐसे लोग हैं चारों तरफ जो विनाश में रस लेते जो कोई भी चीज को तोड़ दें तो अपने को ताकतवर समझते जिन्हें किसी बात का कोई भी पता नहीं है वे भी कुछ कहे चले जाते हैं कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है कोई भी व्यक्ति दूसरा मित्र परिवार के साथी संगी परिचित अजनबी कोई भी कह देता है कि ध्यान वगैरह में कुछ भी नहीं जैसे इन्होंने ध्यान कभी किया हो जिससे ये ध्यान के कोई अनुभवी जब कोई ध्यान के संबंध में कुछ कहे तो पहले ये फिक्र करना कि इस आदमी ने कितना ध्यान किया है आप हर किसी की बात नहीं मान लेते हैं और दूसरे मामलों में लेकिन इस मामले में बड़े जल्दी मान लेते हैं अगर एक आदमी कहता है कि नहीं ये दवा बीमारी के लिए ठीक नहीं तो आप उससे पूछते हैं कि डिग्री क्या है आपके पास एमडी हैं एमबीबीएस हैं आयुर्वेद जानते हैं हकीम है क्या है कुछ नहीं तो कम से कम होम्योपैथ है कुछ क्या है क्या आप वह आदमी कहता है नहीं मैं भरोसे नहीं करता इन सब बातों में इन सब को पढ़ने वढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं दवा से कुछ होने वाला नहीं तब आप समझ जाते हैं कि इस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं लेकिन ध्यान के संबंध में कोई भी ना समझ कुछ भी कह दे आप फौरन डमाडोल हो जाते कि पता नहीं कुछ गलती तो नहीं कर बैठे आप पूछते नहीं कि यह आदमी ध्यानी है बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बार बार कहा है कि ध्यान के संबंध में केवल ध्यानियों से पूछना नहीं तो तुम भटक जाओगे क्योंकि इस जगत में अहंकार इतना घना है कि कोई आदमी ये तो मानने को राजी नहीं है कि मैं जानता नहीं हर आदमी सलाह देने को राजी इस पृथ्वी पर सिर्फ एक चीज मुफ्त मिलती है वो सलाह है और इतनी मिलती है कि जिसका हिसाब नहीं और हर आदमी तैयार है आप मांगो भर ना भी मांगो तो भी देने को लोग तैयार है आपके घर आके दरवाजा खटखटाते हैं सलाह देने के लिए आप कभी सोचते भी नहीं कि जो आदमी सलाह दे रहा है वो कहां से दे रहा है उसकी कितनी पहुंच है ध्यान में उसने प्रार्थना कितनी की है उसने कितना प्रभु प्रेम में अपने को डुबाया है कितना अस्तित्व का अनुभव किया है तो आप लोगों की बात मत सुनना लोग कहां हैं इस पर ध्यान देना साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं जब वे सब की सब समूल नष्ट हो जाती हैं तब मरण धर्म मनुष्य अमर हो जाता है और यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं तब वह मरण धर्म मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है बस इतना ही सनातन उपदेश है दो बातें पहला साधक के हृदय में स्थित कामनाएं हैं जो जब वे सब समूल नष्ट हो जाती हैं तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है क्यों आखिर कामनाओं के नष्ट होने से मरण धर्मा मनुष्य अमर क्यों हो जाए कारण है मनुष्य तो अमर है ही सिर्फ वासनाएं मरण धर्मा है सिर्फ कामनाएं मरती आदमी तो कभी मरता ही नहीं सिर्फ कामनाएं मरती हैं और हम कामनाओं से इतने भरे हैं कि हमें पता ही नहीं कि कामनाओं के अतिरिक्त भी हम कुछ हैं और जब कामनाएं मरती हैं तो हमें लगता है हम मर रहे हैं हम नष्ट हो रहे हैं हम समाप्त हो रहे हैं बंगाल के एक बहुत बड़े विचारक हुए ईश्वरचंद विद्यासागर उन्होंने एक संस्मरण लिखा है उन्हें वायसराय की काउंसिल सम्मानित करने वाली थी महापंडित होने के कारण लेकिन ईश्वरचंद्र पहनते थे गरीब बंगाली का वेश कुर्ता धोती साधारण गरीब आदमी का वेश सीधे साधे आदमी थे मित्रों ने कहा कि वायसराय की काउंसिल में इन कपड़ों को पहन के जाओगे बड़ी भद्द होगी और अच्छा भी नहीं लगेगा तो हम तुम्हारे लिए अच्छे वेश का इंतजाम किए देते हैं तुम चिंता भी मत करो शानदार चीज चाहिए वायसराय के सामने जब तुम मौजूद हो ईश्वर चंद्र राजी हो गए बात उनको भी जची मगर मन में थोड़ी चिंता रही कि क्या सिर्फ पद पाने के लिए उपाधि पाने के लिए सम्मान पाने के लिए मैं सदा का अपना वेश बदलू और नाहक अच्छा भी नहीं लगेगा बचका लगेगा सजा संवारा हुआ वहां खड़ा हो जाऊंगा मगर हिम्मत भी नहीं जुटती थी कहने की जिस दिन ये वायसराय की काउंसिल में जाना था उसके एक दिन पहले सांझ को घूमने निकले थे बड़ी चिंता मन में थी सामने ही एक मुसलमान उनके चला जा रहा था अपनी छड़ी लिए हुए आहिस्ता से अपनी शेरवानी में एक नौकर भागा हुआ आया और उसने कहा कि मीर साहब उस मुसलमान को कहा आपके घर में आग लग गई जल्दी चलिए उसने कहा ठीक लेकिन चाल उसकी वही की वही रही ईश्वरचंद भी थोड़े चौंके कि क्या ये आदमी समझ नहीं पाया या बात में कुछ भूल चूक हो गई नौकर भी थोड़ा घबराया उसने कहा कि मीर साहब ऐसे नहीं चलेगा मकान जल रहा है तेजी से चलिए उस मुसलमान ने कहा कि मैं जब तक न जलाऊं मैं जब तक न जल रहा हूं तब तक तेजी का चलने का कोई कारण मकान जल रहा है मैं नहीं जल रहा हूं और फिर जिंदगी भर की चाल मकान जलने की वजह से बदल दूं और तू इतना परेशान क्या तेरा क्या जल रहा है परेशान तो ईश्वर चंद्र तक थे उनका तो बिल्कुल कुछ नहीं जल रहा था वो तो कम से कम नौकर भी था उनके भी हृदय की धड़कन बढ़ गई थी वो बड़े हैरान हुए कि ये आदमी कैसा है घबरा तो वो भी गए थे मकान जल रहा है यही सुन के कोई संबंध भी ना था उस मकान से तभी उनको ख्याल आया कि यह आदमी अपनी चाल बदलने को राजी नहीं मकान जल रहा है और मैं नहा कि अपने कपड़े बदलने को राजी हो गया दूसरे दिन वो अपने गरीब वेश में ही उपस्थित हो गए मित्र तो बड़े चौंके वहां देख के बाद में निकल के पूछा कि तुमने क्या किया उन्होंने कहा कि छोड़ो वो एक आदमी ने मेरी जिंदगी बदल दी वो कहने लगा जब तक मैं ही ना जल रहा हूं तब तक कुछ नहीं जल रहा है कुछ तेज जाने की जरूरत नहीं आपकी कामनाएं मरती आप नहीं मरते लेकिन कामनाओं से आप इतने संयुक्त हैं आपका घर जलता है आप नहीं जलते लेकिन मेरा घर इतना ममत्व है कि जलते हुए घर में आपको लगता है आप जल रहे हैं आप जलने ही लगते कामनाएं ही मरण धर्म है मरता हुआ आदमी जब घबराता है मृत्यु से तो इसलिए नहीं घबराता कि मैं मर रहा हूं क्योंकि मैं तो कभी मरा ही नहीं घबराता है इसलिए कि अब सब कामनाएं मरी जो जो आशाएं बांधी थी सब टूटी जो जो भविष्य में करने का सोचा था वो सब नष्ट हुआ जो जो अतीत में किया था इंतजाम कि भविष्य में कुछ फल लगेंगे वे सब वृक्ष गिर गए अब सब नष्ट हो रहा है ये सूत्र बड़ी ठीक बात कहता है कि जब साधक की सब कामनाएं छूट जाती हैं तब साधक अमृत हो जाता है अमृत साधक है ही कामनाओं का संग मरण धर्म होने का की भ्रांति देता है हम जिसके साथ होते उसकी भ्रांति हमें पकड़ जाती है और कामनाएं कब नष्ट होती हैं तब तक कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती जब तक ईश्वर के होने का भाव उदय न हो क्योंकि कामनाएं इसीलिए हैं कि हम आनंद चाहते हैं और जीवन में आनंद नहीं है कामनाएं हैं क्या हमारे आनंद की खोज हमारे आनंद को पाने की आकांक्षाएं स्वप्न और जीवन दुख से भरा है इसलिए कामनाएं हैं इस दुख को मिटाना है ये दुख दो तरह से मिट सकता है एक तरह से मिट सकने का आभास होता है वस्तुता मिटता नहीं कि हम कामनाओं को पूरा करें तो दुख मिट जाए ये नास्तिक की यात्रा है भौतिकवादी की यात्रा है कि कामनाएं सब पूरी हो जाएंगी तब दुख मिटेगा आस्तिक की यात्रा है कि कामनाएं तब मिटेंगी जब आनंद उपलब्ध हो जाएगा इस तर्क को ठीक से समझ लें नास्तिक का तर्क है कामनाओं की पूर्ति पर आनंद है आस्तिक का तर्क है आनंद की पूर्ति पर कामनाओं का विसर्जन है आनंद भीतर हो कामनाएं समाप्त हो जाती दुख के कारण थी जिसे चाहते थे कामनाओं के कारण वो भीतर उपस्थित हो जाए कामनाएं गिर जाती जब मंजिल भीतर मिल जाए तो आप रास्तों पर किस लिए दौड़ेंगे रास्तों पर दौड़ते हैं क्योंकि मंजिल कहीं और है जहां पहुंचना है लेकिन वासनाओं के रास्तों से कोई भी कभी किसी मंजिल पर पहुंचा नहीं और जब भी कोई कभी किसी मंजिल पर पहुंचा है वो मंजिल भीतर प्रभु का स्मरण प्रभु अस्तित्व की प्रतीति परमेश्वर है ऐसा बोध जैसे जैसे घना होता है जैसे जैसे आनंद बनता है कामनाएं गिरती चली जाती कामनाओं के गिरते ही मृत्यु गिर जाती जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती तब तो वह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है बस इतना ही सनातन उपदेश ये दूसरी बात जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हृदय को भारतीय मनीषा ने सदा फूल की तरह समझा है अभी जैसा है आपका हृदय वो एक बंद कली जो खुली नहीं और जैसा हम जी रहे हैं शायद वैसे में वो कभी खुलेगी भी नहीं जड़ हो गई पखरियों ने क्षमता शायद खो दी या इतना रस ही नहीं बहता उस फूल की के भीतर कि पखड़ियां खुल सके या शायद इतना प्रकाश नहीं पड़ता फूल पर कि पखड़ियां खुल सके निर्जीव कुमलाया हुआ योग में तो हमारे सभी चक्रों को दो स्थितियां बताई साधारण मनुष्य जो वासनाओं से भरा है उसके चक्र कुमलाई हुई कलियों की भांति उल्टे लटके शाखा भी झुक गई कुमलाई कली के कारण कली नीचे की तरफ झुक गई ये अवस्था है साधारण संसारी मनुष्य के चक्रों की जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती जैसे जैसे प्राण का संचार होता है आपके जीवन वृक्ष में ये कलियां सतेज हो जाती ये ऊपर उठती ये सीधी खड़ी हो जाती फूल का रुख बदल जाता है और ऊपर भागती हुई ऊर्जा इन पखरियों को खोलने लगती एक दिन जीवन के सारे फूल भीतर खुल जाते जब तक आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही तब तक कलियां कलियां ही बनी रहेंगी जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तब कलियां फूल बनेगी ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है जब तक वासनाएं और कामनाएं हैं क्योंकि कामनाएं नीचे का पथ है ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है जब कामनाएं गिर जाती हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाती सारे कॉम्प्लेक्स सारे बंधन सारी जकड़ता मिट जाती हृदय खुला हुआ फूल बन जाता है ये जो खुला हुआ फूल है इसकी प्रतीति होते ही इसकी सुगंध के फैलते ही इसी शरीर में मनुष्य अमर हो जाता है उसका यह मतलब नहीं कि यह शरीर फिर मरेगा नहीं फिर यह शरीर ही मरेगा फिर वो जो भीतर है कभी नहीं मरेगा इस अमृत की उपलब्धि के लिए मरना आवश्यक नहीं शरीर में रहते हुए ही इस अमृत का बोध हो जाता है बस इतना ही सनातन उपदेश है यम ने नचिकेता को कहा कि बस इतनी सी बात ही सनातन उपदेश है यही सदा से ज्ञानियों ने कहा है जिन्होंने जाना है उन्होंने दूसरों को जतलाया है लेकिन न तो वाणी से न मन से न इंद्रियों से इस सत्य को जाना जा सकता है इस सत्य को तो हृदय के भाव से कि ईश्वर है इस प्रतीति में गहरा उतर जाने से इस गहराई में उतरने का नाम ही आस्था आस्तिकता है जो इस गहराई को समझ लेता है और इसमें उतरने लगता है जैसे जैसे घनी होती है ये आस्था जैसे जैसे ये श्रद्धा प्रगाढ़ होती है और जैसे जैसे यात्रा भीतर की तरफ मुड़ती है वैसे वैसे ही इसी शरीर में अमृत की प्रतीति सघन होती चली जाती है वासनाओं के गिरते ही मनुष्य इसी शरीर में अमृत हो जाता है